राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कार्यक्रम गणतंत्र दिवस आलेख मधुपंथ का है और इसे प्रस्तुत कर रही हैं धृति चौधरी त्योहार सारे देश के लोग सारे भारत के लोग मिलजुल कर मनाते हैं इस दिन सारे देश में तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं सभी जगह तिरंगा झंडा फहराया जाता है दिल्ली में तो 26 जनवरी पर बहुत धूमधाम होती है कई दिन पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं 26 जनवरी की झांकियां देखने के लिए दूर दूर से लोग दिल्ली आते हैं दिल्ली में 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति सलामी लेते हैं अरे सलामी विकास के साथ साथ घुड़सवार चलते हैं राजस्थान की ऊंट सेना की सुंदरता देखते ही बनती है स्कूलों के कुछ बच्चे भी बैंड की आवाज के साथ कदम मिलाकर चलते हैं इन सभी से राष्ट्रपति सलामी लेते हैं परेड में तरह तरह की झांकियां होती हैं राजस्थान के नृत्य की झांकी भी होती है हाँ रात को राष्ट्रपति भवन और बड़ी बड़ी इमारतों पर खूब रोशनी होती है उन्हें बिजली के बल्बों से सजाया जाता है चारों तरफ रोशनी की जगमगाहट देखते ही बनती है सारा दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है बच्चों 26 जनवरी की तरह ही हमारा एक और राष्ट्रीय त्योहार है वो भी हमारी आजादी से जुड़ा हुआ है क्या तुम उस दिन का या उस त्योहार का नाम बता सकते हो अरे उसी दिन हमारे देश को आजादी मिली थी हा? <laughs> अब पहचान गए ना ये त्योहार है 15 अगस्त का यानी स्वतंत्रता दिवस का 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों ही हमारी आजादी के त्योहार हैं हमारा तिरंगा झंडा हमारी आजादी की निशानी है ये झंडा है सबसे न्यारा ये झंडा है सबसे न्यारा तीन रंग प्यारा प्यारा तीन रंग का प्यारा प्यारा ये झंडा है सबसे न्यारा तीन रंग का प्यारा प्यारा ये झंडा है सबसे नारा ये झंडा है सबसे न्यारा ये झंडा है सबसे न्यारा ये झंडा है सबसे न्यारा केसरिया रंग त्याग सिखाता केसरिया रंग त्याग सिखाता सादर हो ये सफेद बताता सादर हो ये सफेद बताता हरा खुशी का रंग है लाता हरा खुशी का रंग है लाता ये झंडा है सबसे न्यारा ये झंडा है सबसे न्यारा बच्चों 26 जनवरी तो है गणतंत्रता दिवस और 15 अगस्त है स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को राष्ट्रपति सलामी लेते हैं जबकि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराते हैं बच्चों तुम्हारे स्कूल में भी तो झंडा फहराया जाता है ना हाँ हाँ, हाँ। और बच्चे गाने भी गाते हैं प्रगति हम बच्चों की टोली है गूंज रही है चारों ओर से इंकलाब की बोली है इसी बात से याद आ गई एक और बात दीपू की बात तुम सोचने लगे होगे कि दीपू कौन अरे दीपू भी तुम्हारी ही तरह स्कूल में पढ़ने वाला लड़का है पिछली बार 15 अगस्त के दिन की बात है मास्टर जी ने कहा बच्चों आज हमारी आजादी का त्योहार है 15 अगस्त की तरह ही 26 जनवरी भी हमारी आजादी का त्योहार है 15 अगस्त और 26 जनवरी के बीच कितने महीने होते हैं लगभग छह महीने का समय हाँ ठीक है अच्छा तुम सब इन पाँच महीनों में कोई ऐसा काम करो जिससे दूसरों का भला हो आज के बाद मैं 26 जनवरी के दिन तुमसे तुम्हारे काम के बारे में पूछूंगा जिसका सबसे बढ़िया काम होगा उसको इनाम मिलेगा पांच महीने बीते छब्बीस जनवरी आ गई गुरुजी ने बच्चों से कहा आज 26 जनवरी है आज से करीब पाँच महीने पहले मैंने तुमसे कुछ करने को कहा था याद है ना? जी हाँ गुरुजी याद है हाँ अच्छा बताओ मोहन तुमने क्या अच्छा काम किया मास्टर जी श्यामू के पास कोई चप्पल नहीं थी मैंने उसे अपनी चप्पलों में से एक जोड़ी दे दी हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा और गुड्डू तुमने क्या काम किया गुरुजी मेरी दादी को आंखों से ठीक दिखाई नहीं पड़ता मैं उन्हें रोज शाम को रामायण सुनाता हूँ शाबाश तुम तो बहुत अच्छे काम कर रहे हो एक बड़ा अच्छा काम इस छोटे से दीपू ने भी किया है तुम सभी जानते हो ना दीपू के पिता मजदूरी करते हैं उनके पास अधिक पैसे नहीं हैं। दीपू ने पिछली 15 अगस्त के बाद क्या किया मालूम है क्या किया गुरुजी? दीपू ने पिछली 15 अगस्त से स्कूल के बाद अखबार के कागज के लिफाफे बनाने शुरू किए उन्हें बेचकर वो मेरे पास पैसे जमा करता रहा पिछले महीने इसके पिताजी सख्त बीमार पड़े डॉक्टरों ने उन्हें एक महीने तक काम करने को बिल्कुल मना कर दिया उसके पिताजी बड़े परेशान हो गए कि अब कैसे घर वालों का पेट भरेगा दीपू ये देखकर भागा भागा मेरे पास आया और पिछले चार महीनों के जो पैसे इकट्ठे हुए थे ले गया अपने पिताजी के सामने उसने वे पैसे रख दिए उसके पिताजी हैरान हो गए जब उन्हें लिफाफा बना बनाकर पैसे जमा करने की बात मालूम हुई तो उन्होंने दीपू को अपने गले से लगा लिया <laughs> तो देखा दीपू ने कितना बड़ा काम किया जी गुरु जी दीपू को इसके लिए इनाम दिया जाएगा सभी बच्चे दीपू के लिए खूब तालियां बजाओ आई है छब्बीस जनवरी मिलजुल कर सब काम करें प्रस्तुति सहयोग रमेश रानी शर्मा कैसेट संकलन रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम